ਜੀ ਸੂਫੀਆਨਾ ਕਲਾਮ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਸੂਫੀਆਨਾ ਕਲਾਮ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਵਰਲਡ ਸਰਵਿਸ ਟੀਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਾਏ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ verse ከመመጣው አካሽ መንጂስን ቤት ሰርቪስ እነዛን ዲሪፍሪስት ዲሪፍሪስት በተሰጠና ፕሮግራም ሽርቶች ጋር ፕሮግራም እንደምችሉ አባትና ከካፓታስትሮፍ ፕሮግራም የሚሽርክ ናቆጭ ፊልሚጂ ያደረሰኝ ፕሮግራም ጂ ቪቹ ላይ አካሽ መንጂስን ቤት ሰርቪስ የርቸ ባለት ከረም ጀንጆ अल्लाह करे अवसरे करे सेंट जेम्स जेटी करोगड छह कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को मुहूर्त दो मॉरिशस से अगलेगा डेट में ये वाकई से बनी मुमकिन मान जी एक खास भागीदारी करे रिपोर्ट हुए मॉरिशस से प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी शुक्राना अदा किया जो उन्हें लगापन के रिश्ते की एक पहलू में लगे हुए हैं हाल में मॉरिशस में यूपीआई रुपए कार्ड सर्विस पण शुरू कई हुई लगभग पंद्रह दिन हुए नए ऐं लगापन के लाॻापनि खे जदीद डिजिटल ॻंढापो मिलियो आहे मॉरिशस भारत जे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इनके की पहले पॉलिसी जो एक अहम भाई बना है सागर जो मिशन में पिणु खास अहमियत रखे थो साउथ क्लब ರಾಖಳೆ ಸೈಡ್ जो एक ಜೋ ಏಕ ಮೇಂದ ಮಾಡಿನಾಗ್ತೆ ಮುಜುರ್ ನಾನ್ ಸಲಂ ಖಾ ಗಣಿ खास गले रही ಹೈ यह सब रिश्ता भानी टाउन जी मेन उचैन की छू रहे हैं चिपट अमल लगा पंजी को अहम संभवाई तरक्याती भाईवारी नहीं रवायती दोनों रवायती गैर रवायती ललकारों भारतीय अपने महासंघ मैं इलाके में उभर रही हैं ललकारो मैशत के ललकार रही हैं और मुकाबला पड़ना भारत और मॉरिशस सामुद्रिक सुरक्षा में कुदरती भागीदार हैं इन्हीं का अलावा सुरक्षा खुशहाली इलाके में दामद के बरकरार रखने लाए गर्जी कम कर रहे हैं गगनी क्षेत्र में गर्जी कम करें जड़ों के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक सोर्स गर्जी करें चक्का चरखें हाइड्रोग्राफी स्ट्रिप ऐं जेटी जो अगलगा बेट ते मुहूर्त हिन तव्हां खे अॻिते वधाए थो मॉरिशस में ब्लू इकोनॉमी खे वधीक पुख़्तो थो बणाए पोइ वरी मॉरिशस जो ख़ासि माशी क़ानून हुजे या सुरक्षा जी तलब हुजे या सिहत जी घुर्ज हुजे Rogers 3 along. Majidharada EMT Hospital, civil सोरंजा कॉलेज है राजंजा कॉम्प्लेक्स रामीजी इमारत में जोन हमें घना घना भारत की इमदासत है भारत पहला मुल्क है जंहिं जन औषधि स्कीम खे अख़्तियार कयो आहे जंहिंसां भारत मां केमिस्ट्रिकल एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो तहत अढ़ाई सौ खाद्य वधि ऊंची क्वालिटी जूं दवाऊं घुराए सघंदो आहे भारत मॉरिशस जो चहे तो बचा भाई बनाए औजार हासिल करण में सदर खंडण का सदर खंडण में गंजी पैटर्न ऐं हर्डोटल सेवान में भारत जा बचा अमलदार मॉरिशस जो डिफेंस फोर्सेस में मुकरर आहिनि भारतीय डेयरी फौज जो अमंदा मॉरिशस नेशनल कोस्ट गार्ड जी अगराई कर रहे हैं इनका अलावा इंडियन एयरफोर्स जो अमलदार होते हैं हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन में कमान कर रहे हैं इनके अलावा भारतीय नोवल ऑफिसर मॉरिशस साइटोग्राफी सर्विस भी सर्वाई कर रहे हैं भारतीय बचाव फोर्सेस में लगभग ही अमलदार हैं जो कि मॉरिशस में डिपुटेशन थे हैं भारत मॉरिशस के हेलीकॉप्टर पानी का बेड़ा लड़क हवाई जहाज है तेज रफ्तार से पे हमने उसे पंजीन साल दौरान भारत मॉरिशस के वटवटे मगर इमरान खान अलावा अन्य मुख्य नेतृत्व निर्माण का साल दो हजार ट्रेनी में मॉरिशस की कुल आमद में भारत जो सौ रहा दवा ढाई बस सैकड़ों जेटली मुख्य मुल्क में भारत අමජීතුන් මුඛින් इन वक्त भारत ඉනොත්තේ मुख्य मुल्क में मोटर वाहन एम्बुलेंस फीसदी रवानगी का दर का है भारत के कच्चे सामान पर जहाँ नहीं धागे कपड़े मिला वो सामान मैसर कराए इसके अलावा भारतीय medical devices scrap metal fish meal of scrap copper, aluminum, vanilla beans, scrap paper, parts of machinery and garments यानी कि कपड़ा निकला भरा हुआ है भारत का मॉरिशस मंजू मकबरी लागाबा साल उन्नीस सौ अठतालीस में बर्पा किया गया साल उन्नीस सौ छिहत्तर में भारत का मॉरिशस जो मंजू का मतलब महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट की बर्पा किया गया है उन्नीस सौ सतासी में Indira Gandhi centre for Indian culture की बर्पा किया गया मरकज में हिंदुस्तानी म्यूजिक कथक तबला योगा सिखाया हर साल उते अढ़ाई वर्खा वो वधी के मॉरिशस शागिर्द तरबियत हासिल कंदा आहिनि भारत जे तकनीकी ऐं मानसी सहकार जो मॉरिशस में फ़ाइदो वठंदा मुल्क आहिनि ऐं हर साल खेसि चार सौ तरबियती स्लॉट्स मुयसरु कराया वेंदा आहिनि ऐं मैरिया एल्बिना मिशल माइकल जी કસ્સો જો કે ઇન્ટર કરતો હે કે આકાશવાણીજી સિન્ગી સર્વિસ છે યે આકાશવાણીજી સિન્ગી સર્વિસ છે આવા આકાશવાણીજી સિન્ગી સર્વિસ 1071 70380 કિલો વોટ સે બજી ગયો आकाशवाणी जी Sindhi service news on air app ऐं डी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो झूलेलाल John Jay to have better Ganga. जो मुझे लाल जोड़ मुझे धूल जोड़ मुझे ढोल झूले झूले मुझे झूल झूले झूले नण दिना प्रदूषण करे लाल करे वाहन भूषण लाल कोई पालन जोड़ कोई पालन जोड़ कोई पालन जोड़ झंडे झूले झूले हो झंडे झूले झूले लाल झूले झूले लाल साड़ी झूले कुबेर लाल पल्लर वारो झूले गुट वारो झूले पल्ले वारो झूले घोड़े वारो झूले झंडे झूले রে होत जो धाम के अथ जो लबो कहरो असांजो असांजो को असांजे Hey, hey, hey.